बताइए किस किसी को भी नहीं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज तक आपने वो जो तो ने जो संग्रह किया है कि ये उपाय सत्या सत्यासत्य के जानने के उन पर ध्यान नहीं दिया थोड़ा दिया उनको आवश्यक इतना नहीं समझा अथवा दिया तो दोहराया आवृत्ति नहीं की तो क्या करोगे आप अब उनको समरण रखोगे उनका प्रयोग कैसे करेंगे आप ऐसा समझने का प्रयास करेंगे या नहीं अब उनको श्रमण करेंगे या नहीं करेंगे जी और उनसे कैसे परीक्षा करते हैं ये उपाय ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे व्यक्ति अपनी योग्यता से सत्यासत्य का निर्णय करता है और कुछ क्षेत्रों में वह कर भी लेता है कुछ क्षेत्र ऐसे रहते हैं वह सत्य और असत्य का निर्णय ठीक नहीं कर पाता ये बात समझ में आई नहीं आई तो फिर समझिए व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपने दिमाग से अपनी योग्यता से सत्य और असत्य का निर्णय करता है वो कुछ विषयों में करने में समर्थ होता है वही व्यक्ति कुछ विषयों में सत्य और असत्य का निर्णय करने में समर्थ नहीं होता तो वह आपतों के जो निर्धारित उपाय हैं प्रमाण हैं उनसे वह सत्य और असत्य का परीक्षण करता है संतों ने ऋषियों ने जो उपाय निर्धारित किए उन्होंने अपनी बुद्धि अपनी योग्यता के आधार पर जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने संग्रहित कर दिया निर्धारण कर दिया अब जितनी उनकी योग्यता थी उतनी योग्यता मान के चलिए अब तक हमारी नहीं है आगे हो जाए अलग बात और उस अवस्था में हम उन्होंने जितना निर्णय किया जिन उपायों से उतने क्षेत्र में हम नहीं कर सकते तो हमको उनकी सहायता लेनी पड़ती यदि आप उनके बताए उपायों को परमाणु को जानते हैं उनका प्रयोग करना जानते हैं तो सत्य और असत्य शुभ और अशुभ हानि और लाभ का निर्णय करने में समर्थ हो जाएंगे यदि आपने ऐसा नहीं किया तो जिन जिन विषयों में आपकी योग्यता नहीं है कि आप परीक्षण कर सकें तो उन उन में आप अशुद्ध अन्यथा निर्णय कर लें उससे अपने आप की सुरक्षा करने के लिए उन उपायों को व्यक्ति स्मरण करता है उनका प्रयोग करता रहता है जब जब कोई बात आती है तब तब उन उपायों का प्रयोग करता रहता है उस प्रयोग में एक स्थिति आती है कि उसकी बुद्धि उसकी विद्या ज्ञान तो ये काम करता है कि अमुक कार्य अच्छा है ये कार्य मेरे लिए हितकारी है ऐसा निर्णय करता है अपनी बुद्धि से और ऋषि जो निर्णित कर गए उन्होंने जो किया उसमें यह लिखा है कि ये कार्य व्यक्ति के लिए हानिकारक है ऐसी स्थिति में हमारी बुद्धि तो या व्यक्ति की बुद्धि तो ये निर्णय करती है ये ठीक है अच्छा है और ऋषियों के बुद्धि या उनके ज्ञान या निर्धारण में यह है कि ये कार्य अच्छा नहीं तो उस अवस्था में दो बातें एक तो ये कि व्यक्ति अपनी बुद्धि को प्रमुखता देता है तो अपनी बात को मानता है तो की बात को छोड़ देता है दोहराओ क्या समझ में आया एक स्थिति आई हमारे सामने इसी विषय में निर्णय करता है व्यक्ति अपनी बुद्धि से तो वो कार्य अच्छा लगता है और ऋषियों की दृष्टि में वह कार्य बुरा है उस समय एक तो ये कर सकता है व्यक्ति कि ऋषियों की बात को गौण मानता निम्न स्तर की मानता अपनी बात को बड़ी प्रमुख मानता तो उनकी बात को छोड़ देता है और अपनी बुद्धि के अनुसार उसको अच्छा मान के उस कार्य को कर लेता है क्या किया क्या करता है दोहराओ इसी विषय में हाँ आप बोलिए और सुनिए आप देखिए हाँ व्यक्ति यह मानता है कि यह कार्य मेरे लिए ठीक है किंतु उसी विषय में ऋषियों का निर्णय है कि यह कार्य व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है किंतु उस समय व्यक्ति अपनी बुद्धि को प्रधानता देता है और ऋषियों की मान्यता को गौण कर देता है और उस कार्य को कर बैठता है अब आगे बढ़िए उस स्थिति में वो व्यक्ति अपनी हानि कर लेता क्या समझ में आया अपनी हानि कर लेता हानि क्यों करता है आप बोलेंगे हानि क्यों करता है स्वयं की बुद्धि से जो निर्णय लिए हैं वो गलत भी हो सकते हैं हो सकते नहीं है पहले आओ हो सकता तो संदेह होते हैं यहां बोलना पड़ेगा वह निर्णय अशुद्ध होता है इतना लेके बोल रही वो सकने वाले मत हो फिर वो तुलना नहीं होगी छोड़ना और ग्रहण करना क्या समझ मार अपनी बुद्धि से किया निर्णय हानिकारक है और उनकी बुद्धि से निर्णय हुआ हुआ लाभप्रद है इस स्थिति में अपने निर्णय को प्रमुखता देने के कारण वो हानि कर लेता अब आप तीसरी बात की ओर चलिए आप ऐसी ऐसी स्थिति दिन में रात में दैनिक जीवन में बार बार अनुभव में करके देख सकते हैं दोहराइए क्या कहा क्या समझ में आया आपको फिर लोग बोलता हूं अपने जीवन में प्रातः काल से सायकाल पर्यंत अनेक विषय आपके सामने आते हैं उन विषयों में आपकी बुद्धि कहती है ये करना ठीक है ऋषियों ने लिखा ये ठीक नहीं है और वहां पर आप अपनी बुद्धि के अनुसार प्राय काम करते हैं और ऋषियों ने लिखा उसको छोड़ देते यदि आत्म निरीक्षण करके देखें तो ऐसा मिलेगा अच्छा जो देखते हो इस बात को वो बताओ कौन कौन देखते हैं तो जो देखते हैं इन बातों को अनुभव करते तो इस अनुभव के पश्चात क्या आपने ऐसी दृष्टि बनाई कि जहां जहां उनकी कही बात और हमारी बात एक विषय में टकराती है तो उस समय हमको अपनी बात को छोड़ देना चाहिए परित्याग कर देना चाहिए और उनकी बात को मान लेना चाहिए ऐसा निश्चय किया आपने या नहीं किया यदि नहीं किया तो कर लेना चाहिए उदाहरण दे सकता है इस विषय को समझाने के लिए कौन देगा अब बोलिए ऊंचा बोलिए उदाहरण बना के दिखाइए कोई इस घटना का जैसे कई बार स्वादिष्ट भोजन गुरुकुल में बनता है हाँ जी तो जब भोजन की थाली सामने आती है तो मन होता है कि थोड़ा ज्यादा ले लें थोड़ा कम ले लें हम्म। घी की एक चम्मच ज्यादा ले लें कम ले लें दूध के बारे में है हम्म। फल के बारे में हाँ, हाँ जी और कई बार फिर उसी के साथ ये भी लगता है कि आपके प्रमाण तो कहता है यदि तुम विषय भोगों में फंस गए तो मुक्ति का द्वार तुम्हारे लिए दूर हो जाए ठीक बात है तब उस समय ये बड़ी स्थिति गंभीर होती है मन में हाँ ये ठीक है उदाहरण दिया आपने अच्छा है अच्छा फिर उसमें क्या करना चाहिए उस समय अपने ऊपर नियंत्रण रखकर और उसको थोड़ा सा हाँ अपनी बात को छोड़ देना चाहिए परित्याग कर देना चाहिए ये बार बार व्यापक रूप से आती है बातें या नहीं आती क्योंकि व्यक्ति अच्छाई और बुराई शुभ अशुभ हानिकारक लाभदायक तो दिन भर देखता है और देखते देखते घटना सामने आती रहती है होता रहता है और वो, वो जो मापदंड उसने ऋषियों का ले लिया तो दिन भर बचता रहेगा बुराई से अध्यापक जी आपको भी समझ मारी या नहीं है हाँ जी आ, हाँ, तो अब समझ लो अब ये साथ आप बुरा तो नहीं मानते ना सबके सामने कई लोग बुरा मान जाते हैं सबके सामने बताने से क्यों नहीं है जी नहीं मानते ना अब ये घर पर रहते हैं और अपने पुत्र को पढ़ा दिया लिखा दिया सब को पढ़ा लिखा के विवाह कर दिया पोते हो गए जैसे होता है अब भी ये ऋषियों ने जो ये कहा था कि बेटे का बेटा हो जाए तो बान पश्चिम आके योगाभ्यास करो और वो उसमें समय लगाओ अब ये उसके लिए समय नहीं लगा रहे अपनी जो बुद्धि में जो बैठा है इनकी रक्षा करो बेटी की करो बेटियों की करो ये करो ये दृष्टांत और अच्छा है या नहीं यह है ना ये वही बात और आप में ही ये बातें हैं ऐसा नहीं है अच्छे पढ़े लिखे विद्वान से आचार्य पद पर पहुंचे वो गुरुकुल चलाते उन पर भी यही बात है उनमें भी यही बात मिलेगी आप सभी में ये नहीं कि आप विद्यार्थी ही ऐसा करते हो ऐसी बात नहीं है अच्छा प्रत्येक व्यक्ति ऐसे स्तर पर चलता रहता है अब इसके साथ एक बात और देखना हम जब निर्धारित करके चलते हैं उनकी बात प्रामाणिक है हमारी बात उनकी बात से विरुद्ध हो तो अप्रामाणिक है इसमें यदि कभी हमारी बुद्धि इतनी दृढ़ होगी इस विषय में इतनी प्रबल होगी इस विषय में कोई कोई होते हैं वहां पर टकराव बहुत अधिक होता है <laughs> कुछ अंतराल समझ किसी विषय में हम इतने आसक्त या इतने हमारा बुद्धि में इतना पक गया है वो इतना पक्का हो गया है वहां यदि ऋषियों की बात उससे टकराती है तो उसके दूर करने में बहुत अधिक कठिनाई पड़ती है अब कुछ समझ में आया नहीं आया हाँ आ गया समझ में धर्मवीर जी आ समझ में उसमें बहुत कठिनाई पड़ती उस कठिनाई को उस आपत्ति को दूर करने के लिए वो बार बार फिर प्रयोग करता है अब कैसे करता है मैं इतने इतने विषयों में अपनी मान्यता के अनुसार करता रहा मैंने बड़ी हानियां उठाई है नहीं समझा क्या समझ में अपनी मान्यता के अनुसार कितने कार्य में करता रहा और वो अशुद्ध थे हानिकारक थे और मैं हानियां उठा उठाता रहा और वो बड़े मेरे प्रयोग में आते रहे यदि ये इतने उल्टे हैं मेरे कार्य तो ये वीर ऋषि के सामने उल्टा ही हो सकता है क्यों जी ठीक है अच्छा एक उलझन और उपस्थित हो सकती है आपके सामने वह उनसे भूल हो सकती है और वो भूल कर सकते हैं हाँ जी उनकी बात क्यों मानी जाए क्यों मानी जाए ये समस्या आपके सामने आ सकती है आएगी या नहीं आएगी हाँ जी आएगी आएगी तो उसका समाधान हम क्या करते हैं हम ये नहीं मानते कि ऋषि सर्वज्ञ थे ईश्वर की भांति सब कुछ जानते थे कभी भी त्रुटि भूल नहीं कर सकते नहीं करते थे हम भी ऐसा ही मानते हैं परंतु उनकी भूल ही है ये निश्चित नहीं है अब क्या समझ में आया जो निर्धारित बात अच्छी कही उन्होंने उसमें उनकी भूल ही है ये भी परीक्षित नहीं है ठीक है यदि परीक्षा हो गई ये उनकी भूल है शत प्रतिशत प्रत्येक प्रमाण से मान के चलिए तो उसको छोड़ने में हमें कोई बाधा नहीं क्यों ये आनंद जी आई सुन वो सिद्ध हो जानी चाहिए तो उसको छोड़ देना हमारा धर्म है ग्रहण करके चलना या ग्रहण करना हमारा धर्म नहीं है कोई उदाहरण किसी महापुरुष ने ऐसी बात लिख दी या ये कह दीजिए आज का जो प्रचलन है उसे उदाहरण तो नहीं बनना चाहिए फिर एक सीमा मान के चलो स्वामी जी ने कहा चंद्रमा आदि मून से रहते हैं कल्पना कीजिए आज परीक्षा पूरी तो हुई नहीं होगी कहते हैं हो गई कोई कहता नहीं झूठ है सब चंद्रमा में गए ही नहीं एक ऐसा पक्ष उभरा आज आजकल ये सारा झूठ है चंद्रमा में गए नहीं ये हो और मान हाँ, ऐसा पक्ष आया था तो उसमें आज सिद्ध हो गया जाके देख लिया कोई संदेह नहीं रहा तो मान लो उस ऋषि ने लिखा था कि चंद्रमा मौन से रहते तो वो नहीं रहते तो हम कहेंगे ठीक है भाई अल्पज्ञ के ताके कारण उन्होंने संभावना से लिख दिया है संभावना से व्यक्ति कहता है और अल्पज्ञ होने से भूल हो सकती है उसमें क्या बात अब महर्षि ने भी क्या लिखा भाई मेरे इस ग्रंथ में यदि कोई असत्य भाव सुना रहा हूं भूल हो और भूल से दो जाए तो छोड़ देना <laughs> क्या समझा उन्होंने ये तो कहा है या नहीं कहा या नहीं कहा ऋषि यही मानते आए ना और ये कहा कि वेद के विरुद्ध किसी भी बात को आप देखें हमारी को तो उसको छोड़ देना प्रत्येक शादी प्रमाण से लगे एक और बात कि उनकी बीस बातें बीस बातें उन्होंने कही उनमें से उन्नीस सत्य और एक असत्य भी हो सकती है क्या समझे नहीं आया समझ में हाँ तो दोहरा लो क्या कहा उन्नीस तो सत्य हो जाए एक संभावना एक असत्य भी हो सकती है और आपने कहा मैं बीस की बीस मान के चलूंगा तो एक आनी होगी पर उन्नीस लाभ हो या नहीं हो <laughs> क्या समझ में आया बीस की बीस सत्य मान ली अल्पज्य होने से एक बात उसमें असत्य थी तो उन्नीस तो लाभ हुए और एक हानि और जब बीस की बीस में संशय करेगा वो बीस की बीस में यदि वो संशय करेगा तो कितनी हानि होगी और एक दो को भी आचरण में नहीं लाएगा समझ में आती है नहीं आती हम्म? आती है समझ में ये परीक्षा करने का ढंग सोचने का ढंग विचार करने की विद्या है जो इस विद्या को नहीं समझता ऐसे नहीं सोचना जानता वो व्यक्ति विशुद्ध रूप में वो जो कृतकृत्यता की स्थिति है उसको प्राप्त नहीं कर सकता आप यदि ऐसा नहीं विचारेंगे ऐसा सोचने का ढंग नहीं बनाएंगे ऐसे परीक्षा करना नहीं जानेंगे और उसका परित्याग कब करें नहीं समझते समझ रखना आप भी कृतकृत्यता मोक्ष की स्थिति ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते अब विराम ऋचोक्ष निश्चित है कि व्यक्ति को अच्छे प्रकार से परीक्षा पूर्वक यह निर्णय कर लेना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति करना और करवा इसी बात को जानने में समझने में क्या क्या कुछ करना पड़ता है केवल इतने कहने पर इतना सुनने पर इतना पढ़ने पढ़ाने पर यह सिद्धि नहीं होती जितना कि साधारणतया व्यक्ति समय लगाता है कारण एक और लाखों करोड़ों या अरबों लोग यह निर्धारित करके चल रहे हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य इन इंद्रियों का भोग सांसारिक सुख प्राप्त कर लेना ही प्रयोजन है मुख्य प्रयोजन अब वो जो व्यक्ति वैदिक परंपरा के अनुरूप जो चलना चाहता है वह इनकी बात माने या वैदिक परंपरा की बात मान इसके सामने समस्या है इस समस्या का समाधान कोई थोड़े से परिश्रम से थोड़े से अध्ययन से अध्यापन से या कुछ काल में हो जाता हो ऐसी बात नहीं है इतना बल क्यों दिया जाता है दिया जाना चाहिए याद रखिए आप ये पढ़ते हैं और जानते हैं यहां पर विद्यालय में कि प्रत्येक व्यक्ति प्राणी समस्त दुख कलेश बाधाओं से छूटना चाहता है और प्रत्येक प्राणी आनंद स्वतंत्रता दुख रहित सुख स्थायी सुख इसको प्राप्त करना चाहता है और इस विषय में पूरे भूगोल में मनुष्य मात्र में मतभेद नहीं दिखाई देता क्या नहीं दिखाई देता दोहराइए किस विषय में कौन बोलेगा वो नहीं अरे आप बोलेंगे किस विषय में मतभेद दिखाई नहीं देता इसका उत्तर समस्त दुख और दुखों से छूटना हाँ हाँ दुख और दुख के कारणों से छूटना और नित्य सुख और सुख के साधनों को प्राप्त करना हाँ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई मनुष्य मदद उत्पन्न नहीं कर सकता परस्पर मतभेद नहीं।, नहीं है आप सब समझ गए या नहीं समझे चार बात इकट्ठी कर दो चार में मतभेद नहीं मिलेगा दुख और दुख के कारण सुख और सुख के कारण इसमें मतभेद नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति सभी प्राप्त करना चाहते हैं और जिस समय केवल लौकिक सुख को ही लक्ष्य मान के चलते हैं जो लोग क्या वे ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से कलेशों से बंधनों से छूट जाएं और नित्य स्थायी सुख और स्वतंत्रता को प्राप्त कर ले इसका उत्तर यह है कि ऐसा नहीं होता नहीं हो पाया अब भी नहीं हो रहा है और हमारी बुद्धि के अनुसार जो आज तक समझ पाए आगे भी नहीं होगा ये एक प्रसिद्ध विषय है हम अल्पज्य होने से यहां भूल कर रहे हूं यदि ये भूल होती है तो उसको हटा दिया जाएगा छोड़ दिया जाएगा इसमें आग्रह नहीं है पर अब तक का जो परीक्षण है लाखों ऋषियों का जो परीक्षण है वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों का जो उल्लेख विधान है उसके अनुसार ये बात सिद्ध है और पूरे विश्व पूरा विश्व ये कहता है पूरा का मतलब अपवाद रूप में छोड़िए कि संसार के अंदर धन संपत्ति प्राप्त करना और उससे इंद्रियों के भोगों को भोगना और और जोड़ो तो सम्मान की प्राप्ति करना या ये कहो पुत्रेशना वित्तेषणा लोकेशना की पूर्ति तीन को इकट्ठा करना एक और तो विश्व ये कहता है और एक और ऋषि और वेद और ये कहते हैं कि नहीं ये जो पुत्रेशना वित्रेषणा लोकेशना यो कह दीजिए इसकी पूर्ति करना जो है इससे हमारा जीवन का मुख्य प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता नहीं होता अर्थात जो हम चाहते थे ना आरंभ में जो बात कही वो पूरी नहीं होती आ गया समझ में नहीं आया तो फिर बोलूंगा इन अरबों लोगों को कह दीजिए इन लोगों का जो उद्देश्य है कि धन संपत्ति को उपलब्ध करो और फिर इंद्रियों के भोगों को भोगो जितने भोगे जा सकते हैं जिस प्रकार से भोगे जा सकते इससे व्यक्ति का लक्ष्य पूरा होता है ऐसी मान्यता बनी और आप अध्ययन कर सकते हैं ये औरों में ही नहीं आपको बाल्यावस्था से शिक्षा नहीं मिली माताजी ने ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया जैसे ऋषियों की शिक्षा देनी चाहिए फिर पिताजी ने भी ऐसा नहीं दिया फिर जी अध्यापक ने भी ऐसा नहीं दिया फिर जिस समाज में रहे उसने भी ऐसा प्रशिक्षण आपको नहीं दिया राजा भी आपके काल में ऐसा नहीं था जो ऐसे मानता हो अब तक का आपका स्तर बना वो ए, कितने क्षेत्र में है ये अलग है किसी का कम हो सकता वो ऐसा ही है जैसा इन लोगों का है बहुत सा भाग उसमें ऐसा बना हुआ है या नहीं है क्या समझ में आया हां हाँ नाम उत्तर दो नहीं आया समझ में तो फिर सुनो आपका स्तर बना हुआ है और ये जो स्तर है ये गौण है किसका हो गया वो मुख्य छोड़ दीजिए प्राय उनका जो लक्ष्य है प्रमुख रूपेण आपका लक्ष्य भी वही बना हुआ है एकाध को छोड़िए जिसको इतना विवेक हुआ इतना वैराग्य हुआ इतने इतना पुरुषार्थ किया उसको हटा दीजिए और किसी किसी का हो सकता है समान रूप में आगे खड़ा हो गया अब क्या समझ में आया दोनों समान से जैसे दिखाई देते हो अब कुछ कम समझ में आया समानता जैसे आती है ना एक स्तर एक और दिखता है कि ईश्वर साक्षात्कार करना जो है वह और लौकिक जो सुख वह एक समान स्थिति में आगे खड़े हो गए लगभग ये भी तो आएगा ना जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ तो एक बार तो स्थिति आएगी कि वैसा ही जितना झुकाव आकर्षण लौकिक सुख में है उतना ही लगभग ईश्वर वाले में भी है अब कुछ समझ में आया ऐसी स्थिति तो आएगी कितने काल तक रहेगी आप ये अलग बात है ऐसी स्थिति और एक पक्ष में लौकिक प्रबल है मुख्य है ईश्वर वाला गौण है ये भी समझ में आ गया होगा ये भी आप अध्ययन कर सकते हैं ये स्थिति आएगी ईश्वर का सुख मुख्य प्राप्ति और एक में लौकिक सुख की प्राप्ति प्रमुख है उसकी गौण है ये स्थिति भी आएगी आपके सामने आती भी होगी उसका अध्ययन करेंगे आप पता चलेगा आपको ये स्थिति आएगी यदि आप ऊंचे स्तर पर विचार नहीं करते जैसे लौकिकों का स्तर होता है वो धन संपत्ति मान और बहुत सी बातें व्यवहारिक कैसे होती हैं उनका स्तर ईश्वर वाली स्थिति को समझने का नहीं होता तुलनात्मक वो अध्ययन ऐसा नहीं कर सकते दोनों को समान सामने उपस्थित करके उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सके अनेक लोगों का ऐसा होता ही नहीं एक ब्रह्मचारी का थोड़ा सा अनुभव बताऊं मां वो जैसा सुनाया जैसा सुनाया वैसा भाव सुनाऊंगा ब्रह्मचारी आशुतोष जी है ये लंबे काल तक मेरे साथ रहे पांच वर्ष तक लगभग प्रचार कार्य में साथ साथ रहना और सब सेवाएं करना जो कुछ है कार्य पत्र व्यवहार भी करना फिर दूरभाष आदि वो भी करना और भोजनादि के रूप में सेवा भी करना और रुग्ण अवस्था में चिकित्सा का काम भी करना और फिर ये दर्शन जो थे ना उनके यहां अस्वस्थ चले तो इसको स्थान बदलो तो मेरे साथ वो रहना आरंभ हो गया जबकि वो अस्वस्थ थे बल अवस्था से ही अस्वस्थ और उस उस अवस्था में ये न्याय दर्शन या और दर्शन उन्होंने उसी अवस्था में मुख्य रूप से पढ़े अकेले ने किया अब तो आप दो भी नहीं कर पाते इतना काम जितना आशुतोष जी इस अवस्था में करते थे धर्मवीर जी और ये गौतम जी रहते हैं और भी जो दो दो रहते हैं ना लगभग वो दो उतना काम प्राय नहीं करते जितना कि वह अकेले करते समझिए तो उस स्थिति में उनके और मेरे विचार चलते थे वो मैं सुनाता हूं ऋषियों ने यह लिखा है ऐसा करो वो कहते थे अपनी बुद्धि जैसे चलती थी मैं इन ऋषियों की बातों को नहीं मानता और मैं भी ऋषियों की बात कहता था कहता मैं नहीं समझता तो नहीं मानता भाई माननी चाहिए ना मेरा मन स्वीकार नहीं करता जो आती है समझ में उसको स्वीकार कर लेता जो नहीं आती मैं उसको नहीं करता कोई बात नहीं फिर समझो कभी कभी वो अपने पक्ष की सिद्धि में जब होता ना संवाद आप ऐसा मानते हैं मैं ऐसा मानता हूं तो अपने पक्ष की सिद्धि करते करते वो एक बात कट गई तो उसको छोड़ के दूसरी की पुष्टि में लग गए मैं कहा ये आप पक्ष छोड़ के बाहर जा रहे हैं ना ये परस्पर के संवाद का नियम नहीं है एक बात खंडित होगी तो दूसरी रख दी उसके साथ में वो खंडित हुई तो दूसरी रख दी अपनी बुद्धि से मैं कह ये बोलने का दिन ठीक नहीं है आप यूं तो एक एक बात बदलते रहेंगे वो कट गई पहली बात और फिर दूसरी रख दी फिर तीसरी रख दी ये था ये स्तर हुआ फिर आगे चलते रहे आगे ऐसा होता रहा और अनेक बार थोड़ी सी उग्रता भी आती है व्यक्ति थोड़ा सा दुखी होता है जो <laughs> तो उग्रता में भी कह देता ऐसा प्रयोग भी होता अब ये प्रयोग करते रहे करते रहे करते रहे कालांतर में अंतर आया उनकी मान्यताओं में परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन होते होते होते होते बहुत से स्तर बदलते रहे और अब जो वर्तमान काल है उनका इतना स्तर बदला उन्होंने परिश्रम करते रहे अस्वस्थ होते हुए अब ये कहते हैं कि ये जो अपना विद्यालय है दर्शन महाविद्यालय इसमें जो बातें सिखाई गई हैं जो हमको पढ़ाया गया है वो वास्तव में मुक्ति तक पहुंचाने में वो सामर्थ्य अर्थात जो हमने सीखा पड़ा है वो मुक्ति प्राप्ति में पूरा समर्थ है अर्थात वो उपाय पूरे हैं हम करें ना करें ये अलग विषय है ये बात आई समझ में जबकि वो ऋषियों की उन बातों को नहीं स्वीकार करते थे इस रूप में जैसा सिखाया जाता है अब एक तो उनको ये पता चला जो यहां विद्यालय में सिखाया पढ़ाया जाता है वो मुक्ति प्राप्ति कराने में समर्थ है हम करें ना करें अलग बात अब आगे बढ़िए अपना स्तर सुनाइए उन्होंने कहा मेरा स्तर आजकल जैसा है अब वर्तमान में कि मैं ये अनुभव करता हूं जबकि पूर्व काल में यह मैं मानता मुझे गृहस्थ की ओर जाना चाहिए और ये गृहस्थी लोग सुखी है मेरी बात समझ रहे हाँ पहले का स्तर है अब वो कहते मेरा स्तर अब ऐसा है कि ये गृहस्थी लोग दुखी हैं और मैं उस ओर जाना नहीं चाहता मैं इनसे सुखी हूं ये इतना वो अध्ययन करते आए मानते आए परिवर्तन करते आए फिर खोज करते रहे करते रहे अब इन संसार के सुखों में दुख मिश्रित है ये अनुभूति आगे बढ़ गई दुख मिश्रित है और संसार के लोगों को पहले सुखी मानता था ये जो संपन्न है कार है ये है बेटा पोता माता जी खेलती है जैसे पोतों में बुरा तो नहीं मान जाओ तो ऐसे बड़े सुखी है और कहते मेरा झुकाव संसार की ओर है अब कहते नहीं मेरा आकर्षण झुकाव संसार की ओर नहीं है अब ये स्तर बनाने से बनाया स्तर तो बना नहीं या नहीं संघर्ष हुआ है संघर्ष करते रहना फिर अब मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूं कि मुझे संसारिक सुख की अभिलाषा आकर्षण वो उनके कथनानुसार अब ऐसे नहीं होते जैसे पहले होते थे ऐसी दुख रहित स्थिति जैसे होती है और कहते मैं उसमें संतुष्ट रहता हूं बड़ा संतोषजनक स्तर मेरा अनुभव होता रहता फिर उन्होंने पूछा कि इससे आगे का जो स्तर है वह मुझे उपलब्ध नहीं हो रहा है आगे का स्तर समाधि की प्राप्ति और फिर आगे ईश्वर का जो सुख मिलता है विशेष वो उसके लिए और क्या क्या चाहिए तो मैंने बताया उसके लिए ये ये ये ये बातें ये ये ये और चाहिए इस स्तर पर आप पहुंच गए इसमें और ये ये साधन और चाहिए प्रमुख उन कोई भी वो पूरा करते हैं तो समाधि की प्राप्ति हो जाएगी पूरा करते हैं तो और नहीं करते हैं तो जो स्तर है यही रहेगा बीच का पुरुषार्थ यहां उपस्थित रहेंगे प्रयत्न जितना करेंगे उतने वो आगे बढ़ जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आई एक व्यक्ति का स्तर क्या था फिर क्या हुआ कितना पुरुषार्थ किया वो व्यक्ति अस्वस्थ भी रहे तो ऐसे व्यक्ति ने ये जो आपके ऊपर संस्कार पड़े हैं बाल्यावस्था से अब तक उनको वैसे हटाया जा सकता ये तो आ गया समझ में नहीं आ रहा यदि श्रद्धा से हटाएंगे नहीं पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये हटने वाला नहीं आप पचास साठ सत्तर वर्ष के हो जाइए और उचित पुरुषार्थ नहीं कीजिए यद्यपि समाज को आप बहुत देन देंगे पढ़ाएंगे लेख कार्य लेखन कार्य करेंगे विद्यालय चला सकते हैं आप उपदेशक बन सकते हैं आप और बहुत कुछ गांव नगरों में प्रचार कर सकते हैं ये अच्छा कार्य यहां तक ये सब ठीक है परंतु ईश्वर प्राप्ति या साक्षात्कार में पहुंच जाएंगे ये नहीं हो पाएगा इतने इतने परिश्रम से इसमें वही मूल में देखेंगे आप मूल में जो परीक्षण करके ये बात निर्धारित आपने नहीं की अच्छे प्रकार से कि वास्तव में कि ये ईश्वर प्राप्ति साक्षात्कार से ही मनुष्य का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है अन्यथा हो ही नहीं सकता ये निर्णय करके और यथा शक्ति तदनुरूप आचरण करना एक बात ध्यान देनी है एक स्तर आता है आपने एक अच्छी स्थिति थी सत्रोगुण प्रधान था वैराग्य की उभार की अवस्था थी उस समय आप कई बार ईश्वर साक्षात्कार करना वास्तव में मेरा लक्ष्य है भोग प्राप्त करना नहीं एक अवस्था आई आपने निर्णय कर लिया अच्छा दिखता है पर श्रवण रखना वो स्तर जो बनाया है आपने अपना वो स्तर कालांतर में या समय समय पर परिवर्तित होता रहेगा दोहराओ क्या समझ में आया परिवर्तित होता रहेगा क्या मतलब क्या समझ में आया जो स्तर हमने स्तर बनाया बहुत अच्छा लगा और ईश्वर प्राप्ति करना मुख्य दिखने लगा और भोगों की प्राप्ति या उनके भोग करना त्याज्य दिखने लगा तो क्या होगा फिर उस समय समय समय पर या थोड़े थोड़े समय पर वो बदलता रहेगा स्तर ऊंचा नीचा कभी वो ईश्वर प्राप्ति स्तर गिर जाएगा और लौकिक सुख प्राप्ति उभर जाएगा उस तरह आगे चला जाएगा उसको वैसा का वैसा रखना एक स्थिति कुछ शैथिल्य होने पर गिरना फिर तत्काल से मार लेना प्रातः काल अच्छा स्तर बना था एक घंटे में गिर गया आपने ध्यान नहीं दिया तो वो पूरे दिन भर भी गिरा रहेगा यदि ध्यान दिया तो आप दूसरे घंटों में या आधे घंटे में फिर मिनटों में जाइए और छह घंटों के बीच चलेंगे उससे आपने झट उभार दिया नहीं मैं नीचे चला गया हूं स्तर गिर गया तत्काल आपने उभार के फिर वही स्तर लागे फिर उभार दिया आपने फिर उसी पर चले गए वो फिर गिर गया अब दूसरे ब्रह्मचारी कहते हैं आपकी बाकी जो सुनते समझते आशीष जी कहते हैं ये जो स्तर बनाया रखना दिन भर ये संसार अनित्य है देखते रहो नित्य अनित्य और अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध को अशुद्ध शुद्ध को शुद्ध और सुख को सुख दुख को दुख जड़ को जड़ चेतन को चेतन और दिन भर प्रलय जैसी अवस्था बनाए रखो संसार की प्रलय बताओ दिन भर कहने लिखे बड़ा कठिन दिखता है बनाते हैं वो हम विचलित हो जाता है बनाते हैं फिर विचलित हो जाता है बनाते हैं फिर डिग जाता है वैसे ही टक्कर दिन भर बचती रहती है एक व्यक्ति सोचने लगता है कई बार ये इतना बेकार खींचा तानी संसार के लोग मुझे सुखी हो तो वो कोई खींचा तानी नहीं उनके ऐसा कह सकता नहीं वो कोई उथल पुथल नहीं करते दिन भर और आपको तो यही उतार चढ़ाओ खींचो गिरो खींचो गिरो खींचो गिरो लोग का सुख भी गया आपके हाथों से तो <laughs> वो ऐसा सोचता है मैंने कहा ये कठिन आपको क्यों दिखने लगा इसका बहुत कम अभ्यास किया आपने पहले से उल्टा अभ्यास किया आपने पहले जब जन्म जन्मांतर के भोग वासनाएं संग्रहित इस जन्म में संग्रहित इतना अधिक अभ्यास प्रबल है वो और इसका प्रशिक्षण माता पिता और गुरुओं ने कितना दिया आपको अब कितना काल लगाया आपने ये बड़ा कठिन दिख रहा आपको बहुत कठिन दिख रहा क्यों कारण है इसमें क्या समय लगाया आपको और यदि आप पुरुषार्थ करते रहिए उचित पुरुषार्थ ध्यान देना ये ऐसे स्वाभाविक लगेगा जैसे लौकिकों को भोजन खाना पीना खाना पीना ये स्वाभाविक दिखता है समझ में नहीं आए बोली क्यों जी आप बनाते हैं छौक लगाते हैं फिर हलवा बनाया खीर बनाया फल लाए और बना बना के रोज खाते रहते हैं परिश्रम भी करते हैं पैसा भी खर्च करते हैं उसमें कठिनाई क्यों नहीं होती वो जो सुख के लिए आप प्रयास करते हैं सामान्य रूप से करते हैं कौन कहता मुझे दुख हो रहा भोजन बनाऊं अपनी भूख के लिए अच्छे से चीजें खाऊं पैसा खर्च करूं और खर्च करना ही पड़ता है फल जाना ही पड़ता है पैसा कमाना ही पड़ता है और सुख के लिए तो दौड़ धूप करता है और उसके स्वाभाविक बन गया वो कोई ऐसी शिकायत नहीं है बुद्धिमान के लिए आलसियों की बात छोड़ो <laughs> कि मुझे धन खर्च करना बुरा लग रहा है कंजूसों की बात छोड़ दो एक ठीक संतुलित रहने वाला जीवन जो व्यक्ति का है ना पुरुषार्थ करने बड़ा आनंद आता है कमाता है वो उचित कमाता है संतुष्ट है उससे खरीदता है उसमें ये नहीं कि भाई दो किलो कुछ आम लिए चारा लिए इधर तो हो गए दवा नहीं गए उसी से चिंता करता रहे सुखड़ता रहे ये हो गया वो हो गया और इतना खाया गया इतना खर्च हो गया तो वो ऐसे व्यक्ति भी चर्चा में नहीं कर रहा वो कहता है खर्च इसी के लिए तो कमाया था हमने अच्छे से सफल खाओ अच्छी इसलिए कमाया था उसका आनंद आता है खर्च करने में भी खाने में भी एक व्यक्ति को खर्च करने में बड़ा दुख होता है वे दुखम जाए आए दुखों ना श्लोक में उसमें व्यय करता जब दुख आय हो जाए दुख तो भाई क्षण नष्ट हो जाए जब दुख अर्जन दोष और रक्षण दोष और क्षय दोष और संग दोष और हिंसा दोष पांच दुख देखता तो उस ओर से वो रुचि उसको सताती तो उसमें ये जो मैं आपको सुना रहा जी उस व्यक्ति को बुद्धिमान पुरुषार्थी व्यक्ति जो संतुलित संतुलन रखता है कमाने में खर्च करने में इसी के लिए उसको कहां दुख होता है कि मैं कमा रहा हूं इसमें दुख है मैं बना रहा हूं या बनवाता हूं इसमें दुख है या खाने में दुख है या खर्च करने में वो स्वाभाविक बन गया उसका तो स्वभाव हम जब ईश्वर का उपासना में अभ्यास करते हैं ना ऐसे ही हमें खूब सीखा खूब समय लगाया और हम बड़ा मंथन किया अब हम स्वभाव से चलते फिरते जैसे व्यासवासी में आता है चलते हुए भी वो ईश्वर का साक्षात्कार करता है और लेटे हुए भी ईश्वर का साक्षात्कार करता है और खाता हुआ भी वो करेगा वही सारे व्यापार में ईश्वर का साक्षात्कार करता आनंद से रहता कोई पीड़ा तनाव कुछ भी नहीं होता समझ माया नहीं आया हम्म? हाँ उसका समाधान है अब नए नए व्यक्ति को उन संस्कारों को रोकना उनको तनु बनाना उनको दग्ध भी तक ले जाना वो जो पुरुषार्थ उसको करना पड़ता है वो पुरुषार्थ जब करता व्यक्ति वहां घबराता है और वहां कुछ स्थिति आती है कि ये जो परिश्रम है इतना जो मैं कर रहा और उपलब्धि दिखाई नहीं देती और वो कहता है छोड़ दू इस मार्ग को या नहीं एक व्यक्ति की बात सुनाता हूं नाम आदि कुछ नहीं सुनाया एक व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ा और वो अपने स्तर पर बन गया जैसा मैं सुनता हूं वो बन गया और वो अच्छी योग्यता और उसने लोगों के सामने कहा बताया कि भाई 25 वर्ष कितने मैंने योगाभ्यास या संध्या की एक तिल भर भी या कुछ भी उपलब्धि नहीं हो और अब उसने छोड़ दिया हो गया तो और लोगों को भी यही कहेगा कि मैंने तो इतना किया ये नहीं हुआ कुछ नहीं होता तो आपको परिज्ञान हुआ कि कैसी कैसी स्थिति आती है व्यक्ति के समक्ष और वो किस प्रकार से उनको सुलझाता है और किस प्रकार से निराशावादी भी बन सकता है किस प्रकार से वो उसको छोड़ ही देता है ये सभी बातें आती रहती है इनका समाधान हमको आपको करना ही पड़ेगा यदि नहीं करते तो आप इस मार्ग पर चल के सफल नहीं हो सकते और दूसरों को सफलता प्रदान नहीं कर सकेंगे आप बहुत सी बातें और इसके साथ रहती हैं उनको सबको जानना पड़ता है आप कितना मंत्र करते हैं गहराई तक पहुंच जाते हैं याद रखना बहुत बुद्धि आपकी बहुत तीव्र है पर आपको व्यवहार नहीं आता मित्रों के साथ गुरु जी के साथ दूसरे सज्जनों के साथ व्यवहार नहीं आता जैसे कि व्यवहार होना चाहिए नहीं आता बहुत वैज्ञानिक हैं आप कुछ बहुत पढ़े लिखे बुद्धि भी तीव्र है पढ़ाने में भी अच्छा सब कुछ होते हुए भी पर व्यवहार की बात जो है वो जब तक नहीं आएगी तब तक इस स्तर पर आप जा नहीं सकते ऐसा न मानना हम पढ़ गए बुद्धि तीव्र है प्रतिभाशाली हो गए पढ़ाते हैं ग्रंथ लिखते हैं विद्यालय चलाते हैं और व्यवहार आपका वैसा नहीं है जैसा कि योग के अनुरूप आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अब एक और छोटा सा दृष्टांत देता हूं समझाने के लिए आप बहुत कुछ कर पाए कर सकते हैं पढ़ाने में सुनने में पर याद रखना किन्हीं कारणों से या विपरीत मान्यताओं से या विपरीत व्यवहार से एक व्यक्ति के साथ आपका मनमुटाव है जी और तनाव हो गया परस्पर एक दूसरा दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने लगा उसके अंदर कहना चाहिए कि उन कारणों से द्वेष की विचारधारा बन गई बन गई अब आप याद रखना उस एक व्यक्ति के साथ आपकी द्वेष की विचारधारा मान्यता बन गई है एक के साथ बन गई कल्पना की वो एक के साथ जो द्वेष की ईर्षा की भावना विचार बने हैं याद रखना आपकी मोक्ष प्राप्ति में वही रोड़ा बहुत है सार्वभौमा को तो छोड़ दीजिए आप सार्वभौमा महाभारत का जो बात कही है उसमें सब कुछ आ गया ना मान के चलिए एक व्यक्ति बड़ा ऊट पटांग है <laughs> वो उल्टे ही दे काम करता आपको दुख भी देता है एक ऐसा व्यक्ति है कोई और उसके प्रति आपके अंदर द्वेष हो गया कल्पना कीजिए और वो द्वेष हटता है नहीं हटता तो याद रखना वो एक ही व्यक्ति का द्वेष आपकी मुक्ति प्राप्ति में पूरा रोड़ा है पूरा बाधक आप समाधि में नहीं पहुंचेंगे व्यवहार की बात कई बार पता नहीं चलेगा भाई मैं सारे संसार के लोगों से प्यार से रहता हूं उपकार करता हूं सब तो मुझे प्यार करते हैं पर एक व्यक्ति जो है बड़ा द्वेष करता है दोषों को दिखाता है आरोपण भी करता रहता है बिना कारण भी आरोप लगाता है आप उसके प्रति कुछ द्वेष बन गया वो द्वेष जो बन गया याद रखना वो चाहे अपने साथी हो पहले रहा हो अब द्वेष बन गया आप दूर दूर हो गए कोई भी आप ले तब जब तक उसका आप नहीं हटा देंगे उस द्वेष को एक ही व्यक्ति का द्वेष आपको समाधि में नहीं पहुंचने देगा अब ये व्यवहार का क्षेत्र इसलिए ये बात जो कही गई उपेक्षा करो वहां क्या समझ में आया ये जो बात कही गई कि इससे पार होने का ढंग उसमें भी दो तीन बातें आएंगी सामने उपेक्षा का अर्थ एक तो होता है उपेक्षा करने पर द्वेष हो जाता है कई बार या नहीं होता उपेक्षा करने पर उस व्यक्ति के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है और वो पकड़ नहीं पाता उसको उस द्वेष को बात समझ में आ रही है नहीं बोली उपेक्षा कर दी हमने उपेक्षा करने पर से फिर उपेक्षा करने से द्वेष उत्पन्न हो जाता है उसको न रोका जाए तो द्वेष हो जाएगा यदि इसको रोक दिया जाए तो द्वेष नहीं होगा इसके विभाग बनाएंगे हम कभी कभी जिनसे उपेक्षा की हमने उसके लिए हम देखते प्रयत्न किया जाना चाहिए या नहीं इसको उठाने का मिलकर कुछ लोग होते हैं जिसके प्रति हमने उपेक्षा की थी वो ऐसे स्तर का व्यक्ति है दो चार बार हमसे मिलेंगे प्रेम करेंगे समझाने का प्रयास करेंगे ध्यान देना वो व्यक्ति उन बातों को छोड़ देगा और वो हमारे साथ आपद होके चलने की स्थिति में आ जाएगा पर सब ऐसे नहीं होते एक को ऐसा मान लेना उपेक्षा सबकी ऐसी कर दी जाए सदा के लिए <laughs> सदा के लिए दूर हो जाओ उसे बात ही नहीं करो ये भी बाधक है हां कुछ ऐसे लोग होते हैं उनका हम कितना ही जोर लगाएं वो अपनी आदत अभ्यास को छोड़ते वहां दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है कि हम इसको छेड़ेंगे तो या मारेगा या मारेगा कुछ <laughs> उसके लिए प्रयास छोड़ देना चाहिए अब विराम